इस तरह उन्होंने उन दोनों को झुटलाया और आखिरकार वो भी उन लोगों से जा मिले जिन्हें हलाक किया गया था